कहूंगा उसको विश्व नाम से भी कहूंगा तीनों के तीनों क्या है आकार मात्र सूक्ष्म प्रपंच क्या है स्वप्न वो तेजस एक तृतयम तो उकार मात्र ये तीनों के तीनों उकार मात्र प्रपंच द्वय का कारण सुषुप्तावस्था और ये तीनों चीज ये तृतयम तो मकार मात्र तथा पूर्वम पूर्वम उत्तरोत्तर भाव आप पूर्व पूर्व क्या होता है उच्चारण करते वक्त उत्तर उत्तर भाव को प्राप्त करते उत्तर उत्तर में लीन होते जाते हैं तद एवं सर्व ओंकार मात्र में ध्यात्मा ये सारी चीजों का ओंकार का मात्रा है ऐसे जाना <coughs> ध्यान करके स्थित यद एतावंतम काल ओमिति रूपेण प्रतिबंधम ऐसा अस्तित्व उस व्यक्ति के उस मुख्य के अंदर जो ये भाव आ गया एतावंतम कालम ओमिति रूपेण प्रतिबंधम तत् परिशुद्धम ब्रह्म वास्तव में वो जो ओम है वह परिशुद्ध ब्रह्म ही है ऐसे तुरी का ध्यान यदि आचार्य पर समुद्ध संविज्ञान ही ना पूर्वोक्त सर्व विभाग निमित्त अज्ञान से मकार क्षय भ्रमण ये शुद्ध कथा क्या होगा आचार्य उपदेश से सम्यक प्रकार से उत्पन्न विज्ञान है उस विज्ञान के माध्यम से इस प्रकार का चिंतन कर उस समय में पूर्व सकल विभाग जो है उनका निमित्त कौन सा अज्ञान उस अज्ञान भी मकार के साथ साथ गृहित होकर क्षय हो जाता है क्षय होकर कहा जाता है ब्रह्मण शुद्ध परिस्थितिया जब ब्रह्मणी जो शुद्ध है स्वरूप में वो लीन हो जाता है न क्वचित गति रोपते परिच्छेद अभाव तब आप कहीं गति नहीं हो सकती क्योंकि परिच्छेद ही नहीं रह गया चैतन्य ओंकार उपा ज्ञान है ओंकार में उपासना किया जाता है जिसका अर्थात ओंकार द्वारा संवित्ति ज्ञान अनुभूति का कारण हो जाता है जो ओंकार है अनुभूति का कारण ओंकार कैसा है अनुभूति जीव ब्रह्म अनुभूति का परम उत्कृष्ट साधन एक आलम्बन तो ही ब्रह्म इत्यादि कहा गया था लेकिन विचार करने तीन मात्र ओंकार के द्वारा जो कुछ भी आपको फल मिलना है वो अध्यस्त ही मिलना है विशुद्ध तो मिलना ही नहीं ना ब्रह्म लोक पर्यंत सब कुछ अध्यस्त ही है वो आध्यात्मिक पदार्थ ही मिल रहा है फल मुक्ति तो है नहीं फिर मुक्ति का साधन कैसे तब इसी को लिए कहते हैं जो अध्यस्त उस अध्यस्त को तादात में कर रहा अध्यस्त का तादाद में है ना जिस अधिष्ठान में उस अधिष्ठान को रक्षित कर देना किस प्रकार से करते हैं उसी को बताने के लिए अंतिम मंत्र आता है सुपरिषद का अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचो शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्म संविशत्यात्मना आत्मान यह एवं वेद कहता मात्र मात्राओं से रहित जो ओंकार है वही तुरीय आत्म स्वरूप है और वह मन वाणी आदि का विषय होने से व्यवहार्य है और वह प्रपंच से रहित प्रपंचोपमान शिव कल्याण स्वरूप है मंगलमय है और अद्वैत है इसलिए ऐसा है इसलिए यह ओंकार ही वास्तव में आत्मा है ओंकार आत्मा एवं अर्थात ओंकार एवं आत्मा आत्मा एवं ओंकार इसलिए ओंकार का जो विशुद्ध स्वरूप है मात्रातीत स्वरूप है जो वो क्या है वो आत्मा है और मात्रा स्वरूप तो अध्यस्त हो गया इन मात्रातीत जो स्वरूप होता है वो आत्मस्वरूप है इसलिए ओंकार आत्मा आत्मयोगन से मात्रादित मात्र स्वरूप जो ओंकार है वो आत्मा है ऐसे कह तो फिर वो तीन मात्राओं को भी अपना अमात्र समय पहुंचाने का साधन होती जैसे कर्म भी करते करते करते आगे तक निष्कर्म था अपने आप सिद्ध हो जाता है निष्कर्म की सिद्धि कर्म त्याग से नहीं होता नहीं सर सर निष्कर्म होते कहा है ना संन्यास करने मात्र कर्म त्याग मात्र से निष्कर्म भाव प्राप्ति नहीं है कर्म करने पर निष्कर्म भाव में आप पहुंच जाओगे कर्म को करते हुए भी हम निष्कर्मा रहेंगे क्यों करते करते ऐसा विवेक अंतकरण शुद्ध होकर विवेक वगैरह जागृत हो जाएगा कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित तो और कर्म करते रहूंगा यही निष्कर्म भाव निष्कर्म का भाव कौन से यही कर्म हम नहीं कर रहेंगे कर्म न करने का नाम निष्कर्मता नहीं है कर्म करने का नाम निष्कर्मिता है लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित कर्म का जो निष्पादन होता है वो वास्तविक निष्कर्म भाव है अब उसको चाहे आप कहो प्रार कर से जो चल रहा है उस साक्षी भाव से कर रहा है निमित्त भाव से कर रहा है निमित्त मात्र बहु भव्य साक्षी ने जैसे कह दिया वैसे निमित्त मात्र भाव से कर रहा है हो रहा है उससे कर नहीं रहा है वास्तविक शब्दावली वास्तव में बोलना चाहिए हो रहा है कर नहीं रहा है उस स्थिति आने का नाम निष्कर्म भाव है उसी प्रकार इन्हीं मात्रों को चरण करते करते करते करते करते अपने आप हम अनुच्चारण स्वभाव में पहुंच जाएंगे उच्चारण होते हुए भी तो अर्थात ये अध्यस्त का अधिष्ठान में पहुंच जाएंगे अध्यस्त के द्वारा अध्यस्त को उच्चारण कर रहा हूँ लेकिन उसके अनध्यस्त में पहुंच जाऊंगा जिसके उच्चारण के माध्यम से उसके उच्चारण का कारणीभूता उसका अधिष्ठान भूता तत्व का प्रकाशन हो जाता है क्योंकि बिना अधिष्ठान का अध्यस्त का प्रकाशन हो नहीं सकता जब अध्यस्त का प्रकाशन हो रहा है हमारे उच्चारण के द्वारा अध्यस्त प्रत्यक्ष हो रहा है व्यक्त हो रहा है तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई अव्यक्त तो जरूर है और अभी उसी से ग्रहण हो जाए जैसे आप कर्तृत्व भक्त अलग मैं कर्म कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से एकांश कर्तृत्व भक्त विशिष्ट जो कर्म जो आध्यात्मिक है इसका अधिष्ठान कोई कर्तृत्व भक्त रहित निष्कर्म होगा और वहां पर हम कर्म करते करते जिस प्रकार पहुंच जाते हैं उसी प्रकार यहाँ भी अमात्रा अमात्रा अमात्रा उच्चारण करते करते अमात्र में पहुंच जाएंगे पहुंचने का मतलब अध्यास में विद्यमान आपकी जो अहंता ममता मोह भंग हो जाएगा उसे विरक्त हो जाओगे तो सब में अपने आप स्थित हो गए जैसे वह कर्मगत कर्तव्य भोक्तृत्व को छूट जाता है कर्म करके करते करते अंतगण शुद्धि के कारण से कर्तृत्व भोक्तृत्व छूट गया तो निष्कर्म में पहुंच गए उसी प्रकार जो है ओंकार का साध्यासिक ओंकार को उच्चारण करते करते करते करते अपने आप आपके अंदर जो है विद्यमान जो अध्यास संबंधी मोह ममता है संगता है वो निवृत्त हो जाएगा और असंग भूत अमात्र स्वरूप पहुंच जाओगे उसी को ध्यान में रखते हुए कहा प्रक्रिया को एवं ओंकारात्म अतएव समिशति आत्मना आत्मा इसलिए जो है वो जो साधक जो है वो अपनी ही आत्मा में भरी प्रकार से अपनी ही आत्मा से प्रवेश कर जाता है अर्थात अपनी ही वह विशुद्ध अंतकरण द्वारा साध्यासिक पदार्थ के माध्यम से अंतकरण भी इतना विशुद्ध कर लेता है वह अंतकरण की सारी वृत्तियां अब स्वरूपाकार हो जाती है कोई स्वरूपाकार है ना पतंजलि योग सूत्रकार कहते ना स्वरूपाकार शब्द प्रयोग किया उन्होंने स्वरूपाकार क्यों है अरे स्वरूप कोई सावय वस्तु की तदाकार को प्राप्त करोगे अरे घटाकार हो जाए क्यों घट सावय वस्तु है और स्वरूप कोई सावय वस्तु जो तो है तदाकार को प्राप्त हो जाएगा वहाँ प्रकाश रूपता से अभेद को प्राप्त हो जाता है जो वृत्ति उसी को हम कहे तो स्वरूप आकार को प्राप्त हो गया ब्रह्माकार वृत्ति हो गई मैंने वृत्ति ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जा रही वृत्तियों का ब्रह्माकार होना है और कुछ नहीं वृत्ति स्व कारणी कारणीभूत प्रकाश स्वरूप को ग्रहण करने के सिवाय अन्य को न ग्रहण करता है इसी को ब्रह्मा कर वृत्ति तो इसे कहते हैं कि देखो कि वो जो आत्मा मन विशुद्ध अंत अंतकरण आत्माम संविशति एवं वेद जिस प्रकार जानकर एकदर्श साध्यासिक मित्रमात्र को ओंकार की उपासना करते करते अमात्र अनुभूति कर लेता है वो ऐसा हो जाता है ये हो गया उत्तम अधिकारी का मामला है ये सारा बात उत्तम अधिकारी का है मंद मध्यम अधिकारी तो क्रम मुक्ति का यही साधन बन जाएगा यही साधन मात्र प्रधानता पर करते जाएगा तो अपने आप मान लो यहाँ पर अमात्र स्वरूपानुभूति नहीं कर पाएगा वो स्थिति नहीं पहुंची इतने अंतर्गण शुद्ध हुई नहीं जैसे आप भी कर्म कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं लेकिन इतना अंतर्गण शुद्ध नहीं हुआ तो निश्चित भाव में आप जा नहीं पाते कहीं ना कहीं करते भुगत घुस जाता है अभिमान हो ही जाता है मैंने किया कहीं ना कहीं आकर बोल पड़ता है प्रसंग ऐसे छिड़ जाता है वो अपने आप अंदर के जो छिपा हुआ बात है अब बाहर से जो सजग है तो तब तो आप बिल्कुल सतर्क होकर बोल रहे हैं कि हो रहा है हम क्या करें प्रार्थ कर्म में ऐसे बड़े तर्क देते रहेंगे लेकिन कभी कभी ऐसा आ ही जाता अंदर से मैं कर रहा हूँ मैंने ऐसे किया था उसी का फल है तो आ ही जाता क्यों अभी तक पूर्ण ईश्वर भाव की प्राप्ति होने से हुआ नहीं अंतगण की शुद्धि नहीं हुई उससे पहले मान लो मौत आ जाता तब क्या उसके बाद कहा दिया था भाई वो भ्रष्ट हो जाएगा है या नहीं तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे अमृत में पहुंचा नहीं इस अगले मौत मौत हो गई तब क्रमुक्ति का अधिकारी होता है मध्यमाधिकारी विचार करेंगे भाषा सब बताएंगे देखिए अमात्र मैंने मात्रा यश नास्ती सो अमात्र मात्रा जिसके अंदर नहीं है उसका नाम अमात्र हो जाता है कौन है वो ओंकार यही ओंकार अमात्र रूप भी है मात्रा स्वरूप ओंकार को पहचाना ही अमात्र स्वरूप ओंकार भी है क्यों वो ओंकार आत्मा से अलग ही नहीं अभिधान और अभिधेय जब अभिन्न हो गया अभिधान रूप ओंकार अभिन्न आत्मा से अभिन्न और आत्मा कोई मात्रा वाला है क्या नहीं है इसे अमात्र स्वरूप वाला कौन आत्मा और आत्मा से अभिन्न होने के नाते उस ओंकार को हम क्या कहेंगे अमात्र स्वरूप वाला है ओंकार ऐसे कर देंगे भी दिमाग में सीधे पकड़ नहीं पाएंगे हमारा तो ओम ओंकार कहा से दिमाग में आएगा आप जैसे ओम कहेंगे अवम वाला ही दिखाई देता है वो अक्षर लिखा हुआ जो ऐसे ही दिखता है वो तुरंत दिमाग झटी थी उसमें चला जाता है इसे यहाँ पर जान के बाद में एवं ओंकार आत्मा एवं इसे कह दिया गया चतुर्थ हमने तुरीय आत्म केवल अभिधान अभिधे रूप यो हो वांग मनस्य हो क्षीणत्वाद अव्यवहार वो आत्मा ही है केवल है वो, जो तुरी है मैंने तुरी कौन है आत्मा है वो सूर्य की व्याख्या आत्मा एव आत्मा मतलब केवल हो वो केवल है वो केवल है इसके मतलब व्यवहार नहीं होता उसका नहीं इसलिए तो अव्यवहारी है वो अव्यवहारिक क्यों है क्योंकि वो केवल है केवल है का मतलब अभिधान अभिधेय रूपयोर बांग मनुष्य हो अभिधान और अभिधेय व्यवस्था देने वाला वाणी और मन से मन वहाँ पर क्षीण हो जाता है उसकी सामर्थ्य नहीं है वहाँ कि उनको वाणी और मन से ग्रहण करें क्यों वांग तो मनस्वरूप से अतिरिक्त कोई विषय नाम का चीज है नहीं पहले ही हम लोगों ने सिद्ध कर विचार करके देख चुके हैं कि वांग मन से अतिरिक्त वास्तव में बाहर कोई जगत नाम का विषय होता ही नहीं जो कुछ हम बाहर मान रहे वो अपने वास्तव मन का ही खेल है कुछ नहीं बहिर्भूत भूतम दक्षिणामृत स्त्रोत्र में जो कहा है बहिर् इव उद्भूत है ये बाहर वास्तव में है नहीं हमारा मन समझ रहा है कि बाहर है जैसे ग्रहण कर रहे वैसा है स्वप्न में भी यही ग्रहण किया था मन ने क्या मेरे ज्यादा है बाहर है इन जगने के बाद पता चला वहां जो जगत था तो मेरे ज्यादा था ही नहीं मेरे से बाहर था ही नहीं जो कुछ भी था वो मेरे भीतर ही था वो जो काल यहाँ का पांच मिनट बीता था जागृत की और उधर तो कई वर्ष बीत गए एक जन्म बराबर भी मर भी गया तब आ चला इसमें वहां का काल भी झूठा है जबकि वह काल भी बाहर रूप में अनुभव हुआ वह काल भी जो है पूरा आयु के रूप में अनुभव हुआ वह दिशा भी देश भी सब कुछ बहिरीवा सब कुछ अनुभव हुआ था जिस प्रकार से वह काल देश आदि से वचन समस्त वस्तु बाह्य रूप अनुभव होते हुए भी जगने की बात पता चलो मिथ्या है उसी प्रकार से यहाँ पर जो नित्य निरंतर बाह्य रूप अनुभव हो रहा है जागृत यह भी जब ब्रह्म स्वरूप में हम जग जाएंगे तब ये भी सब मिथ्या हो जाएंगे तो पता चलेगा बाहर था कुछ नहीं मन केवल बनाया जा रहा है ये स्वप्न में मूर्ख बना रखा था अब जागृत भी ऐसे मूर्ख बना रखा है इसने लेकिन अब वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं मन को ऐसा समझकर मन को अपने नियंत्रण करते हुए अपने स्वरूप में नहीं जा पाते हैं इसलिए हमें लगता है कि जागृत सत्य है रोज वही आश्रम जा रहे हैं वही पाठ चल रहा है वही जगह बैठ रहे हैं है ना अपने से अलग है ना ये ऐसे बाहर होता है ऐसे ही आपको बाहर होता है रोज अब आज ब्रह्मांड आश्रम से यहाँ आ रहे कि नहीं आ रहे जगह बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे हैं लगता है कि भाई हमसे अलग है तभी तो हम जा रहे हैं नहीं तो वो आ रहे हैं यहाँ तक तो आपके अंदर ही जो आप अंदर कहा बैठे सत्यशासन अंदर देख लीजिए पाठ अंदर सुन लीजिए लेकिन होता नहीं क्योंकि अभी हम ब्रह्म स्वरूप में स्थित नहीं है ना ऐसे स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो ब्रह्म तो तो दशर आश्रम भी है ब्रह्मांड आश्रम में सारा वही है वही कल्पित है ब्रह्म स्वरूप में बैठकर सुन भी सकते हैं इसी को वहां सिद्धियों के रूप में गणना किया कहा योग सूत्र कहा यहाँ बैठे हुए दूर के शब्दों को मैं सुन सकता हूँ आकर्षित पर संयम करने पे दूर वस्तुओं को देख सकता हूँ सब कुछ वर्ण कहा था करांगुल्यग्रीव हाथ की अंगुली के अग्र भाग में जैसे कोई चीज आपको दिखाई दे पकड़ना अपने विषय बनता है वैसे चंद्रमा में रहने वस्तु को भी आप देख सकते हैं ऐसे कहते वो तो केवल ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा आदमी का बात नहीं है वो तो साधना से एक विभूति पाया हुआ व्यक्ति का काम और जब ब्रह्म स्वरूप में जाओगे तो अनंत ब्रह्मांड के लिए लोग नहीं जितने ब्रह्मांड आप अनुभव कर सकते सारा अनुभव वही है सब कुछ सब कुछ अनुभव इसलिए कहते कि देखो यह अभिधान और विधि रूपा वाणी और मन ये दोनों के दोनों का क्षीण हो जाने से वह केवल है व्यवहार है अतः वह प्रपंच नाम का चीज भी नहीं है प्रपंचोपम यदि कोई कह सकता है अव्यवहार्य तो वह आत्मा ही जो अव्यवहार्य है वो आत्मा है इसे क्या प्रमाण अरे मैं हूँ करके व्यवहार कर रहे हो इसे आत्मा है बोल रहा हूँ अरे मैं हूँ करके व्यवहार न करो तो फिर आत्मा है क्या गारंटी है आत्मा के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं बनेगा तब कहते हैं कि भाई जो प्रपंच तुमको दिखाई दे रहा है या अभी तक दिखाई दे रहा था वो कहा गया हम्म? उसका कहीं न कहीं उपशम हुआ है कहीं न कहीं उसका लय हुआ है जहाँ लय हुआ जहाँ उपशम हुआ उस वही प्रपंच को उपशम का अधिष्ठान रूपेण उस आपको ग्रहण करना पड़ेगा इसलिए प्रपंचो कहते हैं विकार जात के विनाश की अवधि आत्मा ही अवशेष मानना ही पड़ेगा शिव ठीक है वो वैसा प्रपंच का भी उपशम स्थान है मान के चलो तो भी कोई कह सकता है कि भगवान उस आत्मा को प्राप्त करके क्या फायदा हुआ अपने स्वरूप में जाने से क्या फायदा जितना यहाँ आनंद है ए वो भी वहाँ स्वरूप में जाने से नहीं मिलेगा फिर क्या फायदा जाकर या जैसे आप एक आश्रम से दूसरे आश्रम छोड़ के जाना भी चाहेंगे तो आप पहले यह गणित करेंगे ना यहाँ से ज्यादा वहाँ सुविधा या नहीं नहीं तो क्या जाए तो क्यों जाएंगे हम हम यहाँ सुविधा जो मिला है वही ठीक है बढ़िया चल रहा है काम तो चल ही रहा है आवाज जाओ और सौ नियम में फंस जाओ ना पढ़ाई हो ना कुछ हो फिर फायदा क्या वहां जाने का आप कभी नहीं जाएंगे अरे यहाँ से वहां और कम नियम कानून है कम सेवा करनी पड़ेगी ज्यादा समय मेरे को पढ़ने को मिलेगा साधना को मिलेगा तब तो वहां चले जाओगे ये तो लौकिक व्यवहार है इसी प्रकार से यहाँ पर भी कार्य ये जो बाह्य जगत में रहते जो मेरे को आनंद मिला यदि मेरे स्वप्न में जाने के बाद मेरे को वो आनंद न मिले वो शांति न मिले जब तो बाहर बैठने पर हमको मिल रहा है फिर हम क्यों उसकी ओर जाएंगे जैसे तो प्रपंच भी लय हो गया ऐसे कि मैं पहुंच भी गया आत्मा में लेकिन वहां जगह मेरे को दुखी रहना पड़े तो ऐसी आत्मा के पास क्यों हम जाए तब कह दिया नहीं वो आत्मा शिव मंगलमय है आनंदमय स्वरूप है ये तो किंचित आनंद है मात्र है अस्य मात्रा उपजीवंती है उस आत्मा के आनंद रूप के एक मात्रा को लेकर उपजीवन कर रहे हैं जीवित है सबके सब सभी एक मात्रा को लिए और हमें कितना मिल रहा है इसका मतलब उस एक मात्रा का फ्रैक्शन को भाग करो करोड़ों भाग करो उसमें एक मात्र वो अपने हिस्से में आ रहा है आनंद एक मात्रा से सारे के सारे जीवन थी बहुचने समस्त जीव जो है एक मात्रा को उपभोग कर रहे हैं तो हम समस्त जीवों में समय एक जीव है ना और उस एक मात्रा का कौन सी हिस्सा हमारे खोपड़े पे गिर पड़ा क्या पता हमारे हिस्से में क्या मिल रहा है इसका मतलब उस एक मात्रा का लाखवा हिस्सा की करोड़वा हिस्सा मिल रहा होगा उतने में हम खुश हो रहे बताइए वो परमानंद मिल जाए तो इसलिए कहते हो आत्मा उस परमानंद स्वरूप है जिसकी एक मात्रा समझ जीव वो कर रहे हैं शिव कहा वो दुख रूप नहीं है प्रपंच भाव होने मात्र से वह दुख नहीं होता बल्कि इस आनंद की अपेक्षा से अरबो गुणा अधिक आनंद वहां पर है साक्षात शिव रूप ही है कल्याण रूप है अद्वैता क्यों ऐसा है क्योंकि अद्वैत द्वैत में तो अवयवसा काल देश इत्यादि अनेक प्रतिबंध है अनेक प्रतिबंध कौन से युक्त होकर हम अनुभव कर रहे हैं द्वैत हमेशा ही ऐसा होता है राग द्वेश आदि अनेक प्रतिबंधों से युक्त अनुभव होता है आनंद जिसको पंच आनंद रूपये अनुभव कराया है पंचदशी में आपको अलग अलग आनंद का वर्णन किया विषयानंद विद्या आनंद नहीं सब आया वहां पर तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये तो अद्वैत है इसलिए संवृत्त अद्वैत मैंने संवृत्त और वास्तव में संवृत्त अविद्यादि से रहित हो उसी को उपसंहार करते एवं यथोक्त विज्ञान अवता प्रयुक्त ओंगार त्रिमात्र त्रिपाद आत्म उक्त विज्ञान वाले के द्वारा प्रयुक्त मैंने साधना में उपयोग किया गया जो ओंकार त्रिमात्र वाला वही त्रिपाद आत्मा है समझो इसलिए संविशति आत्मना स्वेन स्व पारमार्थिक आत्मा यह एवं वेद अपने ही द्वारा अपने ही जो पारमार्थिक स्वरूप आत्मा है उसमें वो प्रवेश कर जाता है प्रवेश कर जाता है का मतलब क्या वो कहीं है तो है जगह है क्या उसका कोई फिर भी कह दिया अनुभूति का स्थान विशेष है ना हृदय उसे प्रवेश कर पहुंचने के बाद में ना हृदय रह गया ना कुछ रह गया उपरम में चला गया तो व्यापक हो गया जैसे कोई आदमी कमरे में गया और अंतर्धान हो जाए तब क्या होगा कमरा में तो गया आपने ये नहीं कहा कमरे में प्रवेश कर गया इन बार में कपाट खोल के देखते तो अंदर कुछ नहीं तब वो क्या करना पड़ेगा अरे ये तो आकाश में एक हो गया है सर्वव्यापक हो गया कैसे व्यापक हो गया आकाश में प्रवेश करके सर्वव्यापक हो ये तो कहोगे कमरा में प्रवेश किया और आकाश के साथ आजाद भी होकर के सर्वव्यापक हो गया आपको कमरा में प्रवेश करके आकाश के साथ भूत होकर सर्व्यापक हो गया इसलिए अब मैं कमरा खोला तो अंदर में कुछ नहीं मिला जैसे लोक में ऐसा कहीं कोई गायब हो जाए व्यवहार ऐसा हो जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी समझिए हृदय रूपी गुफा के अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं उसके बाद क्या होते हैं वो अपने स्वरूप में भूत हो जाता है प्रवेश करने तक क्या थे आप द्वैत भाव में थे जीव अलग ब्रह्म अलग प्रवेश कर गए तो उसके बाद जीव ब्रह्म एक हो गया और तादात में हो गया तो फिर व्यापक फिर वो परिच्छेद से परे हो गया फिर वो परिच्छेद भी उसमें गर्भित हो गया जिन साधनों से आप प्रवेश किए थे वो साधन भी मिथ्या हो जाता है इसलिए कहते हैं स्वे नव स्वम महात्मा महात्मान एवं वेद व समिष्यति परमार्थ भ्रमित तृतीय बीज भाव दग्धवा आत्मान प्रविष्ट इति न पुनर्जाते तुरीय से अबीजत्वा इस तरह से जो परमार्थदर्शी है वो ब्रह्मवेत्ता है और जो ब्रह्मवेत्ता है वह तृतीय जो बीज भाव है उसने एक तरह से जला के राख बना दिया जगधवा आत्मनम एवं प्रविष्ट वो अपने स्वरूप में प्रवेश कर गया यदि न पुनर्जाते इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जिस स्वरूप को प्राप्त किया है वह तुरीय में बीज भाव नहीं है अबीज अबीज रूप है वो जो बीज रूप होता तो उसे अंकुर फुट सकता है और ये बीज रूप ही खत्म कर दिया तो अंकुर कहा से होगा इसलिए अबीज रूप जो तुरी को भाव को प्राप्त कर जाने से उसका जन्म मरणाज दोबारा नहीं होता नहीं रज्जु और वेगी रज्जो प्रविष्ट सर्वो बुद्धि संस्कार पुनः पूर्वोत्तर विवेकी नाम उत्थास्यति रज्जु और सर्व विवेक आपके अंदर हो गया और असर्व कहा गया रज्जु में ही लीन हो गया है इसे आपने आत्मा को देखा तो प्रबंध कहा गया आत्मा में ही गायब उसी प्रकार से जीव जो प्रवेश कर गया हृदय जीव कहा गया आत्मा में ही एक हो गया उसी तो तरह यहाँ पर भी सब व्यवहार हो रहा है रज्जो और सर्प वेग जब करोगे तो रज्जु कहा जाती है कहते भाई वो भी सर्प में ही रज्जु प्रवेश कर जाता है सर्प जो है रज्जु में प्रवेश कर जाता है बुद्धि संस्कार हाँ, कैसे हुआ वो भी बुद्धि का संस्कार से मानो बार हो जाएगा तो कहते हो नहीं सकता पुनः पूर्वत नहीं ऐसा नहीं कर तद विवेक की नाम नहीं उत्थास्यति पहले के समान दो बार उस विवेकी के प्रति पुनः बुद्धि संस्कार आदि को लेकर उत्पन्न होगा ऐसा नहीं कर सकते यावत काल पर्यंत विवेक जागृत है उसका तावत काल पर्यंत दोबारा उत्पन्न होता नहीं व्यावहारिक जगत का भ्रांति में आ गया दोबारा भ्रांति नहीं होगी नहीं कह मृत्यु में सर्प की इसे तद विवेक विवेक के नाम कर दिया मैंने विवेक वाले को नहीं हो सकता और विवेक का ही विस्मृति हो जाए विवेक का ही विस्मृति हो जाए तो दोबारा आपको अंधकार में जब पहुंच गया वहां उसी जबरदस्ती में सब उपरांत हो क्यों वहां पर जाबी अज्ञान के साथ ही सारा व्यवहार हो रहा है मूला विद्या नष्ट नहीं हुई है अब मूला विद्या ही नष्ट हो जाएगी फिर दोबारा विवेक का नाश होने का प्रसंग ही नहीं उठेगा अभी विवेक में हुई तो कहाँ हुई है विवेक अविद्या में हुई है ना रज्जु सर्प का जो विवेक हुआ है कहाँ हुआ है अविद्या में ही माया में ही हुआ है तो स्वर्ग में पहुंचने पर होता है जो साधन कार्य नहीं बोल रहे जब स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद जो स्वर्ग है क्या प्रवेश के अनंतर कारण ले लो साधनात्मक विवेक की बात नहीं करे मुख्य के लिए बताया ना जो वेदांत के अधिकारी की विवेक वो तो साधारण विवेक की बात कर रहे हैं स्वर्ग विवेक की बात नहीं भाई जगत का अनात्मा आत्मा आत्मा नित्य अनित्य का विवेक इत्यादि का वर्णन किया मैं आत्मा हूँ ऐसा सब आत्मा है ऐसे जो साधारण जानना है वो अधिकारी का विशेषण होता विवेक है और यहाँ जीवी की बात हो रहा है जब रज्जू को हमने देख लिया और सर्प नहीं रह गया उस समय का विवेक तो यहाँ पर आप घटे हुए जो जीव भाव को छोड़ करके ब्रह्मानुभूति किया उस विवेक का बात कर रहे और वो विवेक नाश नहीं होता लेकिन रज्जु सर्व विवेक नाश हो सकता है क्योंकि रज्जु सर्वजन जो विवेक है वो कैसा है वो अविद्या के अंतर्गत है अविद्या के प्रभाव अधीन है वो अतः उसको हम विस्मृति भी कर जा सकते हैं फिर दोबारा भ्रांति भी हो सकती है लेकिन उसके आधार पर यह नहीं समझना कि आत्मा का जो विवेक हुआ आत्मा आत्मा का फिर यहाँ भी दोबारा विस्मृति हो जाएगा दोबारा हम जीव हो जाएंगे ऐसे नहीं हो सकता हाँ? वो सब तो सारे दुश्मन देखिए आप रज्जु सर कौर मरो मर्जिया में जाओ फारक क्या पढ़ना है? हाँ? यही तो मैं कह रहा हूँ प्रतीति होना एक अलग चीज है सत्यता होना अलग चीज है सत्यता नहीं तो फिर दौड़ोगे पानी के लिए पहली बार दौड़े थे बाहर प्रतीत होते रही क्या दिक्कत थी जैसे आकाश में दिख रहा है प्रतीति हो रही है यहाँ उसको सत्य नहीं मानते उसी प्रकार यहाँ पर प्रतीति होती रही है तो मैं कह रहे हैं इसलिए सामने वहां पर गया मैं दोबारा स्मृति हो जाएगा दोबारा जीव हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर तो विवेक की विस्मृति भी हो सकती है रज्जु सर्प में मरुमरिचिका में पहले विवेक हो गया है ना लेकिन उसके बाद आप फिर विस्मृति हो सकती है क्योंकि वो जो विवेक है अविद्या जन्य विवेक है अविद्या में ही उत्पन्न है और स्वरूप में जो विवेक हो जाता है वह अविद्या ही नष्ट हो गई ना इसलिए विवेक की विस्मृति नहीं पैदा कर सकती है स्वर्ग संबंधी जो विवेक हो जाता है उसकी विस्मृति कौन कराता है कोई भी चीज की विस्मृति होती है तो कारण क्या है उसमें विस्मृति का कारण क्या है अविद्या मानना पड़ेगा ना माया तो मानना पड़ेगा और वो जब नहीं रहेगी तब क्या विस्मृति होगी विवेक का नहीं हो सकता इसलिए दृष्टान अष्टान की विषमता इतना ध्यान में रखना रज्जु सर्व का विवेक को दृष्टान में बना दिया इधर ये भी तर्क करना चाहिए कि भाई यहाँ तो विवेक हो गया फिर भी हम भूल तो जाते हैं बार बार वही भ्रांति होती है तो उसी प्रकार जीव की बार बार भ्रांति होती रहेगी ऐसा कोई है समझ भाषा विचार आ चुका है इसका बारे में बोल चुके इस बात को नहीं नहीं नहीं हो सकती के कारण यह यहाँ जो हमारा विवेक रहा है दृष्टान भले हम इसका दे रहे हैं एक समझाने के लिए इसलिए यहाँ पर भी विशेषण की नाम यावत पर्यंत विवेकवान हो रहेगा तावत पर्यंत आप लौकिक व्यवहार में भी आप देख रहे हैं उसको दोबारा वहां नहीं हो सकती अविवेक का विस्मृति होने के बाद दवा भ्रांति हो सकती है और इसका कारण क्या अविद्या बनी हुई है इस वजह से विवेक की स्मृति हो जाती है लेकिन आत्मा के बारे में विवेक हो जाता है वहां पर अविद्या ही नष्ट हो जाती है विस्मृति का कारण नष्ट होने से विस्मृति दोबारा होकर के दोबारा जो भाव की भ्रांति नहीं होती है ये अंतर इसे कहते हैं बुद्धि संस्कार पुनः पूर्वज तद विवेक के नाम नहीं उत्था इस तरह से उत्तमाधिकारी का वर्णन हो गया मंद मध्यमाधिकारी मंद मध्यम ध्यान तो मंद और मध्यम बुद्धि वाले मैंने मंद और मध्यम अधिकारियों के प्रति प्रतिपन्न साधक भावाना जिन लोग साधक भाव को प्राप्त कर चुके हैं और सन्मार्ग गामी नाम सन्यासी नाम और सन्मार्ग गामी सन्यासी वे लोग मंद हो गया प्रतिपन्न साधक भावाना में मंदों के लिए वर्णन है और मध्यम कौन है जो सन्मार्ग गामी सन्यासी है यहाँ भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए इसी विश्व करवा रहे हैं ये सब के सब माता राम पादाराम सामान्य विधान लेकिन इन सबको क्या है परोक्ष ब्रह्म विद्या है मांडव के उपनिषद का समय प्रकार से श्रवण हुआ मनन किए हुए हैं और जब भी कहीं भी बैठे रहते हैं तो मात्रा और पादों का अवेद चिंतन करते हैं ऐसे करते करते सन्मार्ग गामी है वो ये नहीं सुन लिया समझ लिया भूल गए ऐसा नहीं तत्चिंतन तत्कथन तदन प्रबोधन महामृतेर कारण निरंतर मरने तक ऐसा सन्मार्ग में ही रहने वाले जो लोग हैं ऐसे चाहे वो मंदाधिकारी है चाहे वो मध्यमाधिकारी है यथावत उपास्यमान ओंकार उन लोगों ने यथावत नहीं इस उपनिषद में कथित विधि के अनुरूप बताया कि तो पद्धति के अनुसार ओंकार को जो है वो उपासना किए करने वाले लोग हैं इसलिए उपास्य वो जो ओंकार है वो ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी भवती ब्रह्म प्रतिपत्ति के लिए वह सर्वोत्कृष्ट आलम्बन अवश्य ही हो जाएगा अर्थात वे क्रम मुक्ति को पाएंगे नीचे टीका में देखिए तीन पंक्ति नीचे से उत्तम अधिकारी नाम ओंकार परिशुद्ध ब्रह्मात्मक्य विधान अपनरावृत्ति लक्षण फलम उत्तम पुनः न उत्थास्यति वो है अपनरावृत्ति उसी को कह रहे उत्तमाधिकारी लोग ओंकार के द्वारा परिशुद्ध ब्रह्मात्म की का वेत्ता हो जाएंगे तो अपनुरावृत्ति रूपा फल उनके लिए कह दिया तत्पश्चात मंदमान मध्यमान कदम ब्रह्म फल प्राप्ति इतना संज्ञा अरे मंद मध्यम कैसे ब्रह्म प्रतिपत्ति कर लेंगे फल प्राप्ति कैसे होगी उनको तेषाम भी क्रम मुक्ति विरुद्ध उनके लिए भी क्रम मुक्ति जो है ना कोई विरोध नहीं कर सकता उसे कोई रोक नहीं सकते हैं अवश्य क्रम मुक्ति के द्वारा उन्हें भी सुख मुक्ति मिल जाता है इसे क्या प्रमाण है कभी यही कारिका में आगे जाकर के तीसरे प्रकरण में कहेंगे तथा चवक्षति मूल में आश्रमास्त्रिविदाहीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्ट आश्रमा त्रिविधा मूल में भाष्य में भाष्य की अंतिम पंक्ति रह गया था ना तथा आश्रमा त्रिविधा हीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्ट पूरी कारिका है एक आधा आधा बता रहे पूरा तीसरे प्रकार का सोलवा कारिका है कार्य कारिका है फिर तो संख्या हमारे इस पुस्तक के अनुसार एक सौ तिरपन one fifty three page number इस बुक के अनुसार थर्ड जो प्रकरण है उसमें सिक्सटीन कारिका है तीन सोलह में मिलेगा आश्रम त्रिविधा ही न मध्यम उत्कृष्ट दृष्ट अच्छा देख लेना बाद विस्तार से वहां और विस्तार से वर्णन आएगा तात्पर्य यहाँ पर यही है कि भाई आश्रमा त्रिविधा का तात्पर्य क्या है मंद मध्यम और उत्तम ये ग्रस्त पर आश्रम वो नहीं ग्रहण करने का उल्टा पुल्टा आश्रम का यहाँ पर है जो साधना में आया और ओंकार रूपी साधन को पकड़कर श्रम किया है वो आश्रम है निधन कर भाष्यकार की शब्दावली क्या थी प्रतिपन्न साधक भावाराम जिन्होंने साधक भाव को पकड़ रखा है और वो है जो सन्मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं दोनों ही प्रकार मन ने भी साधन को पकड़ रखा है चल नहीं पाया उसमें ढंग से और एक वो है जो उस मार्ग में चल भी पड़ा सन्यासी ले लिया और लग गया और वो उससे उत्कृष्ट है ना इसमें मध्यम है लेकिन दोनों ही आखिर में साधन को लिए हुए है ही है इसलिए दोनों को ही क्रम मुक्ति का अधिकार है ये पता का मंद मध्यम उत्कृष्ट तीन हीन मने मन आश्रमा त्रिविदा हीन मध्यम उत्कृष्ट हीन मने मन मंद के जगह पर हीन प्रयोग किया छंद को बनाने के लिए तो मंद मध्यम उत्कृष्ट मने उत्तम उत्तम अधिकारी इत्यादि महाकारिका में आएगा तो प्रमाण है भविष्य में बताएंगे तीनों अधिकारी मुक्ति को पाते ही है इस प्रकार से मांडव्य प्रसाद तो पूरा हो गया पूरे बारह मंत्र विचार हो गए उसका भाष्य भी पूरा हो गया ग्यारह मंत्रों के ऊपर विद्यमान तीस कारिकाओं को विचार कर लिया गया और इस बारहवीं मंत्र पर किए जाने वाले शेष प्रथम प्रकरण की अन्य कारिकाओं पर विचार कर लिया कुल इसमें जो है उनतीस है ना मैंने और बाकी आपका छ है छह कारिकाएं बाकी वो तो छह कारिकाएं ये अंतिम मंत्र के ऊपर है इस तरह से आगम प्रकरण के साथ तो प्रशत तो से समाप्त हो गया और आगम प्रकरण के लिए भी छह कारिका बाकी है जो कि अंतिम मंत्र पर विचार किया जाएगा उसके बाद संपूर्ण उपनिषद के ऊपर विशेष चिंतन ये बात जो कहा गया है ये तो बहुत ही सूक्ष्म है सूत्रबद्ध कहा गया लेकिन द्वैत प्रपंच को जब तक मिथ्या नहीं सिद्ध करोगे अभिधान अभिधेय की जो है अभेद सिद्धि हो नहीं सकती कहा तो आपने अभिधान अभिधेय अभिन्न घट शब्द से घट जो पदार्थ नाम का चेज अलग नहीं है केवल मानस एक आकार विशेष ही है वास्तव बाहर कुछ नहीं ऐसे कैसे कह दिया जब तक इस द्वैत को मिथ्या नहीं सिद्ध करोगे मैं और मेरे से लगे बाहर जो ऐसे इस बात को भेद को जब तक मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकते तब तक अभिधान अभिधेय का अभिन्नता सिद्ध नहीं हो सकती तो ओम और आत्मा अभिन्न नहीं हो सकेगा उसके लिए वैधत्य प्रकरण विचार करना ही पड़ता है वैधत्यता सिद्ध की बिना जो कहावा पात की सिद्धि नहीं हो सकती है दिव्य संक्षेप में वैधता को दिखा दिया वही आत्मा विश्वता वही तेजस्वा वही प्राज्ञा पारदृष्टिया भी तो और ही ऊ में ऊ ही माँ में लय होकर के एक ही हो जाता है ये सब चीजें जो है संक्षेप में यद्यपि कथन कर दिया गया है मिथ्यात्व को भी किंतु उसका विस्तार विवेचन के बिना साधक को दृढ़ निश्चय नहीं उत्तम अधिकारी के लिए इतना आगम प्रकरण समझ लिया तो बात खत्म हो गया और कई तो उसे पहले ही आना बंद कर दिया क्योंकि उनको विषय मंत्र पढ़ के ज्ञान हो गया बारहवीं अमात्र में पहुंचने से पहले ही उनका जो मुक्ति हो गई है उन्हें क्या जरूरत है उत्कृष्ट अधिकारी है सर्वोत्तम अधिकारी मानना पड़ेगा तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान छह मंत्र में हो गया किसको पांच मंत्र में हो गया ठीक है अच्छी बात अत्र पूर्व इसलिए यहाँ भाषाकार कहते क्या पूर्ववत पूर्वत बने जैसे अन्य मंत्रों की प्रकार थी उसी प्रकार से मंत्र विवेचनार्थ ही अत्र श्लोका भवंती इस मंत्र के विषय में भी इन कारिकाओं के द्वारा विवेचन किया जा सकता है ओंकारम पादशो विद्या पादा मात्रा न संशय ओंकारम पादशो ज्ञाता न किंचित चिंत विद्या एक एक पाद करके ठीक ठीक से उस ओंकार को अच्छी तरह से जानो ओंकारम पादशो विद्या मैंने तो सामान्य आदि आदि को लेकर के ओंकार की एक एक मात्रा को एक एक पाद के रूप में अच्छी तरह से समझ लो क्योंकि पादों की अनुभूति तो स्पष्ट हो रहा है ना विश्व तेजस प्राग जागरूक सुप्र सुषुप्ति का अनुभूति हम कर ही रहे हैं पादानुभूति तो सबको हो रहा है लेकिन ये जो जागृत प्रथम बार अनुभूति हो रही ये अमात्र है ये समझ में तो अकार से ये सारा कैसे ग्रहण होगा ये नहीं पकड़ेंगे आप समस्त है विश्व ऐश्वर और विश्व ही अ है ये ग्रहण नहीं हो पाता है इसीलिए कह रहे ओंकार को पादशः प्रत्येक मात्रा का भेद करते हुए जिस प्रकार की सादृशा क्या सादृशा आर्यमत्व आप है कि नहीं उत्कर्ष और उभयत्व मिति और अपीति मिति और अपीति इन सारे श्रोताओं को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के माध्यम से ये निर्णय कर लो पादा एव मात्रा इति न संशय जो पाद है वे ही मात्रा है जो मात्रा है वे ही पाद रूपेण अनुभव में आते हैं इस प्रकार से बिल्कुल निश्चय करो ताकि संशय ही ना हो पादाश मात्रा मात्रा से पादा जो मंत्र में कहा था ना उसको बोल रहे ओंकार पादशो ज्ञातवा न किंचित चिंत इस प्रकार से ओंकार को पादशाह जान करके अन्य कोई भी चीज इस द्वैत वस्तु में सतता का चिंतन बिल्कुल न करे यदोक्त ही सामान्य ही पादा यो मात्रा मात्रा से पादा यथोक्त सामान्यों के द्वारा पादी माता है माताएं पाद है तस्माद ओंकार पार्श विद्या इसलिए ओंकार को पाश जाननी चाहिए इत्यर्थ इसलिए ओंकार को ही पादशा सम्य प्रकार से जानना चाहिए ये अनुभव में आ जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है ये अनुभव में नहीं आ रहा है बैठते तो हैं ओम का उच्चारण करते हैं लेकिन अश्व और वैश्वानर है अ विश्व और ईश्वानर है ये अनुभव में नहीं आता तू ही तेजस और हिरणगर है माँ ही प्राग्ञ और ईश्वर है ये नहीं ग्रहण हो पाता है तो चांद तो करते भावना भी कर ले भले आप लेकिन ये जब तक नहीं होगा तब तक अभिधान अभिधेय अभिध कैसे होगा तो ओम अभिधान है उसका अभिधेय कौन है ब्रह्मात्मा उसका अभेद कैसे हो पाएगा जब तक हम ये ओम के प्रत्येक अक्षरों को पाद के साथ अभेद करके अनुभव नहीं कर पाएंगे तर्श पादों वाला आध्यात्मिक पादों वाला आत्मा के साथ उसका अभेद ग्रहण नहीं हो सकता इसलिए इस बात पर जोर दे रहे हैं यहाँ पर कारिकाकार कि भाई उस ओंकार को पास अच्छी तरह से जानो एवं ओंकार ज्ञाते सत्यवा देखो इस तरह से ओंकार को पाद के साथ अभेद करके जानने के बाद ही दृष्टार्थम अदृष्टार्थम व न किंचित प्रयोजन चिंतित दृष्टार्थ प्रयोजन को या दृष्टार्थ प्रयोजन को किसी भी प्रकार के प्रयोजन को चिंतन न करें कृथार्थ पद इत्यर्थ क्योंकि ये समझो सब कुछ कृतार्थ हो गया क्योंकि जो जो अर्थ आप चाह रहे हैं वह सब यहाँ बैठीकृत हो गया प्राप्त हो गया क्योंकि जो कुछ भी आप चाहेंगे वो सब इन तीन अक्षरों में ही जो कुछ भी आप चाह रहे हैं वह समस्त ब्रह्मांड कहा है तीन अक्षर में क्योंकि जो आपकी चाह कामना है वो ब्रह्मांड आप बहिर्भूत नहीं है जितनी भी आप कल्पना करेंगे मेरे को ये चाहिए वो चाहिए जितनी भी कल्पना करोगे कामना करोगे वो कामना क्या है ब्रह्मांड के बहिर्भूत वस्तु को कोई कामना कर सकता है है कोई ऐसा बहिर्भूत वस्तु भी जिसकी आप कामना करें जो पादों से बहिर्भूत हो जो अक्षरों से बहिर्भूत हो त्रिमात्रा से ऐसा कोई तत्व ही नहीं है जिसकी आप कामना कर सकते इसे कामना का विषय जो कुछ भी होगा वह पाद पदार्थ ही होगा अर्थात मात्र त्रयांतरवर्ती पदार्थ ही होगा इसे मात्र त्रय को देने जब मात्र में आप चले जाओगे अमात्र में चले जाओगे फसल तो को प्राप्त ही है फिर अन्य प्रयोजन की चिंतन करें क्या मतलब रह जाएगा वो सब प्राप्त ही है इसे कृतार्थ होने के नाते उसको अन्य कोई प्रयोजन की चिंतन करनी ही नहीं चाहिए ऐसे पैसे निश्चय करके जब चलता है तो सर्व प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं होगी तो ये कैसा होगा तरीका तो बताओ कह तो देते हो ऐसा हो जाएगा ऐसा करोगे तो लेकिन किस प्रकार से करो इसी करते हो तो बताते नहीं